मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरिशम दानोदल विपिन दहन थे यह ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे सच्चे शंकर अवतारे थे सच्चे श्री राम दुलारे थे फिर भला इन्हें किसका डर था यह जगदम्बा के प्यारे थे सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाते थे पर छाए पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी छल यही किया पवन सुत से तो बध को यह लाचार हुए पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए गिर चढ़ते खा दूर से लंका नगर विशाल जहाँ राक्षसों के सहित रहता था दस भाल कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था सब राजपाट सब घाट बाट सब ठाट विराट ठाट का था वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी जिसमें वसुधा भर की संपत उन अक्षराज ने रखी थी सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था यक्षों के लिए भगाया था असुरों को वहाँ बसाया था वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था विज्ञानवादिता इतने थे बन गए रूप नास्तिकता का भोजन बिला समाधकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल जिससे थर्राता था प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दब दबा बढ़ाता था सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान मिले लंकनी राक्षसी सा समान सब बाल ब्याल थे खुले हुए सुंदर तिलक भाल पर था दो दांत चमकते थे बाहर हाथों में खड्ग भयंकर था बजरंगे के आहट पाकर सन्मुख आए किटकिटा उठे मैं तुझको खा ही जाऊंगी यह कह खाड़ा खड़खड़ा उठी बजरंगी कहने लगे चलहट हो जा मौन रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन मैं महावीर कहलाता हूँ मैं महावीर कहलाता हूँ हनुमत है विदित नाम मेरा तुझसे चुड़ैलिया हनता हूँ यह भी है एक काम मेरा नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से जल के ताम से सिंह का को कर दिया नष्ट क्रोधानल से थल पल राजसी लंकने को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तब भक्ति मात को पाऊंगा यह कहल के हाथ से मुष्टिक मारा एक गिरे घूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था लंक ने रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था मुष्टिक प्रहार कर महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे जो वाणी से सतपग से तम कर से रज पर जय पाता है ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़भागिनी महान हुई इन चरणों के रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई हे महावीर हे महावीर हे महाधीर रघुबर का तुझ पर हाथ रहे जा बेखटके अब लंका में जय और सफलता साथ रहे जा बजरंगी जा रण रंगे गुण के संगी जा बजरंगी जा रण रंगे गुण के संगी योद्धा जंगीले नाम श्री राम जी का जा बजरंगे जा रण रंगी गुण के संगी जा जा बजरंग भले जा जा बजरंग भले निर्भय हो लंका में तेरी जय हो निश्चर के दल की छय हो हाथोड़ बहा दे आग लगा दे वीर बजा दे जा बजरंगी जा रण रंगे गुण के संगी योद्धा जंगी ले नाम श्री राम जी का जा बजरंगी जा बजरंगी लंका में डंका ले नाम श्री राम जी का योद्धा जंगे ले नाम श्री राम जी का जा बजरंगी जा रणरंगी गुण के संगी योद्धा जंगी ले राम नाम श्री राम जी का जा बजरंगी सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम उधर हटी वह लंकने इधर बढ़े बलधाम प्रत्येक भवन में रावण के ढूढ़ा श्री सीता माता को सैनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम कहाँ अंतर आत्मा रे उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा श्री राम कहा जय राम कहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मेरा बल बुद्ध पराक्रम आया तनिक ना काम अपने बल से कार्य सब पूर्ण करा लो राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भटक अंधेरे में रहा हो भटक अंधेरे में रहा हो निराश अविराम दो प्रकाश इस दास को हे रवि कुल रवि राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम